साथ जितने अपनी इंद्रियों प्रफुल्लित है उसका नाम सुख है और ही निर्जता में स्थानीय इंद्रिया यत्न शब्द का ये और बता जाओ और बताओ जिसमें अपनी इंद्रिय हाँ, प्रसन्न हो निर्माण हो प्रसन्न रहना माने अपने घर में रहना पराये घर में जाना व्यक्ति का लक्षण है ये दिन भर भटकते रहेगा इस दुकान से इस दुकान में उस दुकान से उस दुकान में मान घर में कोई काम की चीज नहीं है तो दुकान में ढूंढ रहा है उनसे मिलना उनसे मिलना उनके पास जाना उनके पास जाना घर पसंद होता तो बाहर कौन जाते आपने दिल कुछ तो बाहर से तो काहे तो निकल जाए अपने आप में अगर सुंदरता समाई हुई होती तो दूसरे की ओर देखने की जरूरत क्या करती प्रीतम सर मैंने वसी पैसा भी कहा संस्कृत में जैसे सभी के सभी बोलते हैं वैसे ये भी सभी ही बोलते हैं तो बिल्कुल वही शब्द है स्व का स्व बोलते हैं और विसर्ग का है बोलते हैं सभी संस्कृत है अच्छा अब आए कुछ चीज के बारे में पूरा विचार करें तो सुख में और दुख में एक दो है दोनों में एक जो है तो सुख की शोधनम खनक सुखम दुख की निंदिता अपने तो, देश के दुश्मन से झेल निकालते हैं जब किसी से मजा मिले उसमें ये हमारा बड़ा देश है उसके दाता से राज दूर होते हैं और जब दुख मिले हैं तो बोले सिंह को के दुश्मन दूर निकालते हैं तो जानता है ये असल में देखा कहीं देश का उदय हो जाता है और शिक्षा में कहीं राग का उदय हो जाता है जो किसी को इज्जत कभी कुछ मिलता है ये स्वामी शर्मानंद जी महाराज चलाया था वो जो बता रहे कि कहीं अकेले चलते ये तो इनसे तो प्रज्ञा शक्ति है बंधन शक्ति माने हिंदी में कोई जाए तो अनुभव की आप को देखते हैं प्रज्ञा शक्ति उत्तरी सड़क को देखते देखते एक सामने तो से कहीं दौड़ जा रही है और वो लगी बच्चा बच्चा तो तो लगी तो जिस तरह हम गाड़ी कर गया तो हम लगी कर बड़ी तकलीफ थी ये तो भूल उठाए तो रह गया वो बताते हैं लेकिन ये चूड़िया गाँव में से निकली और गाड़ी आम से उसमें खुश जाए ये बिचारा तो है बिना हाथ का है इसको नहीं दूसरा था तो तुमको हाथ वाले हो तुमको गाड़ी बचा के लिए लड़ाई के लिए तो बोले कि मन में थोड़ा कुछ मिला आश्वासन मिला कि चलो हमारी ओर से कोई बोलने वाला गुड़िया तो निकल आई अच्छा फिर गाड़ी आम को जाए पहले की बात है लेकिन कि तो जब इसको आगे बढ़ा तो एक पेड़ में जाके टकरा गया अब पेड़ को टकरा गया तो पेड़ जो है आपको पेड़ लगी तब मन में विचार हुआ कि अब खुद को तो गाली है वहां से गाड़ी वाली के पुष्ट का दाता मान करके है ना उसको गाड़ी दी गई तो स्थिति हुई अब पेड़ के गाड़ी ये तो करता नहीं है असल में जब सुख दुख का हम पूरे संसार में देने वाला मान बैठते हैं तो दुख देने वाले को दोष होता है और सुख देने वाले को अपना दोष मानते हैं सुख में वाला दोष होता है यदि कर्ता पर नजर लगाए संसार में सब जगह यही मालूम पड़े कि इसी प्यारे का हाथ है ये उसी में से जैसे काटी है ये उसी में काटा मारा है तो सारे वही से मत करो समझना अरे सुख दुख बदल जाएंगे तो अपनी आत्मा की स्थिति है ये अपनी आत्मा की स्थिति है प्राय पूर्ण गीता में सुख दुख का विचार जो है ना और सुख की बात करो गीता में इंसान में जो सिद्ध होते हैं उनकी गिनती कराई एक आदमी पैसों तो का काम न करना पड़े उनको आत्मा के बिना शक्ति मानते हैं मुद्रा आलोक प्रमाण और सुखम मोहन माध्यम इस समय मोहन सुख है मोहन सुख अपने को ये न पता दिया ये देर जो है ना उसके साथ मूल हो गया वही समय पर सोता रहे तो जवाब तो ये आई ठीक तो है अगर चबाना भी न पड़े अपने मुंह को दूसरा कोई चबा के तो उसके मुंह में डाल दो तो बहुत मजेदार ये आई ठीक हो जाए और है कि दुनिया में किसी पर ऐसा भरोसा कर लेना कि ये हमारा हमेशा सेवा करेंगे हमारे हमको तो कुछ पहुंचाएंगे प्रमाद है बिल्कुल प्रमाद है दूसरे के भरोसे पर कोई कैसे जीवन को जीत सकते पहले मर सकता है वो पहले सुन सकता है एक आदमी पर भरोसा करके बैठ जाना कि यही हमको सुख देगा ये बुद्धि का प्रभाव है बड़े लेने के हमको सुख होता है ये आलस्य लेने लेने सुख होता है निद्रा को सुख होता है इसका मूल मूल मोह है कि नींद अवस्था तंग जो शरीर है ना हड्डी मांस का इसमें मैं करके बैठ गए उसका नाम था सामर्थ्य या बोले का कुछ है एक ब्लेक मौसम है काला है कुछ करना नहीं दूसरी के घरों को करो करो अपने को किसी मामले की कोशिश करना और ये दिन है जगद्वेशानुबंधेशो सुखम मोहनमात्मन निद्रालस्य प्रमादोत्तम सत तामस मुबारक है ये तामस है ये सुख भी तामस है न समय अलग करते समय प्रमाद करते समय सुख है और न तो उसके नतीजे में कोई कुछ मिलेगा उसका परिणाम क्या निकलेगा और काम करने की आदत लग जाएगी ये जो सभी जो चित्त है ये असल में चित्त नहीं है अब देखो दूसरा चित्त क्या है तो राजस चित्त है दूसरा है भोग मूल चित्त भोग भोग चित्त जो है उसके राजस बोलते हैं विषय इंद्रिय संयोगा यद समग्र मृत परिणाम विषम ये भेद का अध्ययन हो जाने से आदमी बड़ा दुखी हो जाए हमने सौ जो मान दो आदमियों को ये याद करके उनको देखा है कि आप पहले हमारे घर में चाहता थे हमारे घर में कैसे कलर थे कैसे माल थे और कैसे हमारे पति थे और कैसे पुत्र थे और कैसे युवक थी इन्हीं बातों को याद करके पुराना बहुत ही अलग करके रहने वाले लोग और अंदर ये विनोद बाबा है लखनऊ में छोटा इमाम बाड़ा बड़ा ईमान बाड़ा है ना ये बगादी बनाने के सब का स्मरण है कारोबार बंदूक लेकर खड़ा होता है तो ये जो जिंदगी के ईमान बाड़े हैं जो चलते हैं कैसे चलते हैं जो भोगी तो तो हो जाता है वो जिंदगी में ईमानदारी की योजना करता है इसकी बात चल रही तो जब तक मिला नहीं तब तक मिले मिले तब तक दुख नहीं है जब तक मिले नहीं तब तक दुख नहीं मिले और ये छूट गया तो सवाल के सारे हमारे ईट के घर में गए तो घोड़ा बड़ा भारी उसके बीच में छोटा सा कमरा ऐसा तालीम उसने दिखाया था कि जगह जगह से छट गया था बिल्कुल गंदा उसके रंग रोड गई था बड़ा तो उन्होंने ये बताया कि ये हमारे दादा के जमाने का हो पहले बताया गई कि हमारे पास तालीम है ना दो हजार फुट में दिखाए जाते थे अब कुछ संभव भी नहीं हुए अब रोने लगे तो जो लोग विषय और इंद्रियों के संवेद से होने वाले सुख में आसक्त होते हैं उसमें बड़ा दोष है बड़ा दोष है क्योंकि मिलने के सहयोग दुश्मन और मिलने का अभिमान और सीखने पर विचार सीखने पर विचार दूसरे जो है जिसको तुमने अनेक समय से स्वीकार किया वो तुम्हारे लिए दुख हो गया और तो देखो गुरु मनु विवर्धन को लगा जो जितना पूजा जात करेगा उसको और और सही होगी जब खाने तो तो की आदत पड़ेगी ना तब पीने की भी पड़ जाएगी तो खाने में तकलीफ होती है पीने की आदत पड़ जाएगी जो खाना और पीना दोनों एक साथ चलता है यहाँ बाहर का खाना चलता है तो बाहर का घर का एक प्लेट है उसको मान संशोधन प्रकृत है और जो भिखारी जाति मांस खाता है भिखारी खाओ मांस खा रहा है भगवान चलते किसी बुद्धिमान ने पूछा चले ये भिखारी कैसे तू जित मंगा और खाता है मांस तो भिखारी बोला कि बाबू सब खुलते हुए मैं मांस को खाता हूँ पर तुम तुम्हें मध्यम देना जब तक सवार नहीं होती जब तक मांस का मजा नहीं आता इसलिए मध्यम से आज कवच करिए राज्य की तरह जाएगी मध्यम से आज कवच करिए तो बड़ा भीड़ हो आराम है मरीज का है शराब का मजा निकल जाता है जो देखिए वो यानी राम राम राम तुझे दूसरा भी के लिए दूसरा क्यों करेगी ही सुतक कर बनानी दूसरा को धन के लिए तेरे पास धन कहा गया जिला तीन में कौंडी होगा जिला देता है या कोई करता है सौर्य भी तो कौंडी होगी करता है क्या फिर चोरी और बीमा भी करते हैं मकसद के कामयाब है जो लोग बाहर अपने रास्ते से जुड़ रहा उसके लिए तो दूसरा कारण क्या है वो और कभी क्या करता है तो ये जो विषय और इंद्रियों के संयोग से कुछ होता है ये मनुष्य के अधिकाधिक बाधता है और अधिकाधिक गिराता है तो जिसको राजक किस बोलते हैं राजक बड़ी भारी तारीफ है बोले अमित मदाज के हरम में देश है देश है तीन हजार और कह देते हैं ये ठीक है ये राजस्व जो ये छोट के समय अनेक के समान मालूम करता है लेकिन बाद में ये बंधन का हेतु होता है और सेवा बात बढ़ता है और और ज्ञान बढ़ती है और और साधना बनती है और और मनुष्य का पतन होता है ये राजनीतिक है ये सांस्कृतिक क्या है तो अपने जीवन में अच्छे अभ्यास डालो जिसकी चीज नमस्कार किया मजा माना गया माना तेरी मजा आ गया और इस कैसे कहते हैं कि जिंदगी में माने को और तो जिंदगी पर गवा चाहिए और क्या करेंगे जैसे अच्छा। एक चीज बोलने में जहर होता है ये क्या कहता है कि शरीर को मारता है शरीर को मारता है ज्ञान और नशा किसको मारता है बुद्धि को सत्य का विरोधी मृत्यु है एक जहर वृत्ति बताया है सदंश का विरोधी है और सिदंश में विधि तो बुद्धि का विरोधी है होता और अपने आत्मा को कहें उसका विरोधी क्या है वो दूसरा सकते हैं अपने के कुछ रूप में ग्रहण करके और संसार के भीतर को कुछ रूप जानना ये जीवन ज्ञान विदा जीवन ऐसे ही ठीक है ठीक तो है जहाँ तक पूरी पूरी बनते हुए संबंधान मनसक कल्याण के दोष निसंयंत प्रबल एक संपवा है मनुष्य अपने मन की प्यारी लगने वाले जितने रिश्ते यहाँ दुनिया में जोड़ता है ये हमारा पापा ये हमारा मामा ये हमारा चाचा ये हमारा ताई और जितने रिश्ते बढ़ेंगे उतने लोग ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में मरेंगे जितने रिश्ते बढ़ेंगे उतने लोग ज्यादा दुखी होंगे जितने लोग ज्यादा रिश्ते नाते में बढ़ेंगे उतने ज्यादा बीमार बनेंगे और जितने ज्यादा हिंदू में वंश बढ़ रहा है भगवान ये वृद्धि जो है ना एक वृद्धि हुई माने एक दुकान बना तो एक विरोध और एक नल एक रोगी और बना संसार में संयम विपरीत है संयम विपरीत सभी पत्नी को उनके जीवन में बड़े बड़े बड़े घटक कर गिरा गया बेटा और दूर की कोई भी उसने कोई और भगवान गुरु है उनको दिल में सक्षता है थोड़ा बोले भाई मैं भी हूँ मेरी मेरी ध्यान करो सारा ध्यान देते नहीं और भगवान ने दिया बात बोला भगवान ने दिया अब एक दिन सक्षता दोनों के दिल में दिल दिलाया है मेरी और देखो मेरी और देखो मुझको प्रेम करो मुझको मत करो और वो धीरे से लग गए थे धीरे नहीं हुआ तो भगवान ने कहा भाई इतनी भक्ति करने के बाद ये भटक गए इंसान तो लोग के बीच अपनी भीड़ में लग गए अपनी भीड़ तो में लगे कहा गया कहा गया जब कहीं बड़े लोगों का बिल्कुल ख्याल आया कि भगवान ने दिया था शायद भगवान ने अपनी गोद में दे दिया है तो चलो उनके साथ मिलेगा जब बेटे भगवान के पास पहुंचे तो भगवान तुम्हारी तरह गए और भगवान को फिर याद आ गई कि भगवान हमारे कितने प्यारे हैं तो बेटे को भगवान ने अपने शरीर में बुला लिया ये देखो संसार में जो स्थित पदस्थित बिना परिश्रम के जो खुशी होने की कोशिश करते हैं उनका सिर्फ अधिकार है या तेजस्व सत्सम सात्विकम आत्मविद्युत प्रसादम ये आत्म आत्माकार बुद्धि के प्रसाद के जो होता है ना ये विद्युत क्या है तो विद्युत प्रसाद है ये गोटा प्रसाद नहीं है ये बात प्रसाद नहीं है ये धन प्रसाद नहीं मकान प्रसाद नहीं देवकालन मकान प्रकाश नहीं है ना उस कारण देवी वक्त नहीं है जिसका नाम गणेश प्रसाद नहीं है तो कौन है आत्मविद्युत प्रसाद आत्मविद्युत प्रसाद जब सुप्त संसार में भटकना छोड़ करके आत्मा का होती है और जातना का मन जब से दूर हो जाता है तो उस समय सात्विक सिद्ध का उदय होता है चाहे धर्माभ्यास से हो चाहे उपासनाभ्यास से हो चाहे योगाभ्यास से हो ये सिर्फ अभ्यास से उत्पन्न होता है ये अपनी मेहनत का फल है रास्ता में पड़ा हुआ पैसा पा करके कोई धन नहीं हो सकता एक आदमी का तो खेती करता था बड़े लोग जाता देखता रोज का काम करता दिन भर लगा रहता फसल होती इसको खाने पीने के काम पेड़ के लिए बच्चे से बड़े आनंद में रह जाना था तो एक दिन कहा गया कि जब एक पेड़ के नीचे भोजन करने के लिए गया तो एक चिड़िया को इसके शरीर को टकरा गई अकस्मात कपड़ा है तो पकड़ लिया पकड़ लिया मेरा तो बड़ी खुशी हुई आज तो मैंने एक चिड़िया पकड़ ली तो जाकर दीवार में देखा दूसरा तो दस रुपये में देखा अब उसने कहा खेती का काम तो दस दिन करें पति दस रुपया नहीं बचता है और ये तो जरा सी चिड़िया शरीर से पकड़ाई गई दस रुपया मिल गया अब क्या करे तो हर योजना छोड़ के जंगल में घूमना शुरू कर देंगे चाहे तो नहीं तो कभी चिड़िया टकराव जाएगी बच्चों को तो तो ले जाएंगे अब महाराज छह महीना हो गया साल भर हो गया कोई चिड़िया टकराई और साल भर की छोटी नष्ट बेटा बेटा स्त्री बेटी जो लोग अकस्मात मिलने वाली चीज पर है ना शक्ति में पैसा आ जाएगा जीवन में पैसा आ जाएगा रास्ते में पड़ा मिल जाएगा दूसरे की बात काट लेंगे इस आधार पर जो लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं उनका जीवन सामक जीवन है बोला और जो अपने परिश्रम से उत्पन्न करते हैं संत में हम सत्सेगा पाकम सतती श्रेय हमें पर राशि को भारी कर बोलते भले पांच सत्य दिन केवल सब्जी खा करके गुजारा करना पड़े लेकिन अपने पेड़ पर कोई कर्ज न हो है ना और पराये घर में रहना पड़े वो बड़ा भारी आनंद है हमारे साथ खड़ा पीछे पढ़ाई के सहारे में जीना पड़े और कर्ज न लेना पड़े मेरे सब नहीं हो कुछ भी आनंदित वो आनंदित होता है तो महाराज परिश्रम करने पर जो फिर आशा मिलता है हमेशा खड़े नहीं जीवन भगवान आनंद होते हैं कालीदास ने कहा कितनी भी तकलीफ उठाना है लेकिन उसके बाद जब थोड़ा सा फल बनता है तो जरूर कीर्ति आ जाती है जीवन में इसका आपको तो कुछ समाधि सुख की बात करें समाधि सुख ब्रह्म सुख गीता में तो सबको ही वर्णन है ना एक आपको तो बता रहा हूँ दूर बता रहे थे आपको कल शाम को सुनाया था दुख जो है वो किसी में कभी किसी को नहीं होता है दुख जब होगा तब जागृत अवस्था में होगा संदेश दिए अपना स्वप्न अवस्था में होगा अपनी कल्पना से किसी की अवस्था में किसी के दुख में है इसका मतलब यह है कि जहाँ त्याग सत्ता है वहाँ दुख नहीं है जहाँ स्वप्न और जागृत के सारे दृश्य छोड़ दिए गए वहाँ दुख का मानव निशान नहीं है स्वच्छ और जागृत के दृष्टियों के पकड़ रखना उनमें आस्था रखना उनमें दब जाना ये कुछ है भोग का नमूना है कितना भी दुखी हो आदमी खुद मार खाए हुए हो खुद रोग हो है ना खुद योग हो खुद दरिद्रता हो घर में मौत ही मौत हो लेकिन नींद आ जाए तो इसका मतलब है कि सारे दुख जो है ये बहुत पिछले स्तर पर ऊपर ऊपर जागृत और चक्र में भेजा करते हैं कि किसी की गवाही में तो दुख की कभी तो ही नहीं है और तो एक बात और इसके संबंध में आते मैं दुखी हूँ ये अभिमान जिसके नहीं है इसके दुख कभी छू नहीं सकता ये आधार रूप बोलते हैं इसको तो दुख साक्षी भाग्य है आघात घात के नहीं है माने जैसे घड़ा दिखता है कपड़ा दिखता है घट पर घट माने घड़ा पट माने कपड़ा है ना जैसे घड़ा कपड़ा और मत माने मकान जैसे घड़ा कपड़ा मकान दिखता है ऐसे कोई ये हो हथेली का बड़े दिनों हाथ की कोई हाथ लाते हो ना कोई दुख की पकड़ कर लिया है पूरे दिखता है हमारा मैंने वो न हाथ के दुख टकरा जा सकता न पाँव के जल के दुख तक पहुँचा जा सकता है न आँख के दुख देखा जा सकता न त्वचा को दुख किया जा सकता दुख के निमित्त में दुख का आरोप कर देता है निमित्त भी कई चीज है और दुख भी कई चीज है मेरे मौत देखो मेरे नारायण मौत तो हमारे घर में होती रहती है ये तुम्हारे घर में हुई तो हो गया और दूसरे के घर में हुई तो दुख नहीं हुआ मौत अगर दुख होती तो किसी के घर में मौत होती तो दुख होता बोले ममता दुख है मेरा भगवान मौत दुख नहीं है ममता दुख है दीवाने हजारों को तो निकलते होते हैं क्यों नहीं दुखी होते हैं अपना निकलता है तब दुखी होते हैं अपने का निकलता है तब दुखी होते हैं तो दीवाना निकलना दुख नहीं है है ना मेरा और मेरे का दिवाला निकलना दुख है तो ये चित्त जो है ये स्वीकृति है मानसिक वस्तु है दुख माने एक द्रव्य नहीं मत पट मत के समान मरना दुख नहीं विरोध दुख नहीं मन जाना दुख नहीं शरीर में रोग होना दुख नहीं आपको तो मालूम होगा ये जो कुछ मंदिर लोग होते हैं ना जो कुलपत जी में रास्ते में बैठे रहते हैं हाथ पाए तेल लेते हैं वो आँख तोड़ लेते हैं कि हमको भूख मिलेगी भूख मिलेगी काट देते हैं खून बहा देते हैं भाव चढ़ा लेते हैं और भूख मांगते हैं भूख हमारे गांव में एक भूख था उसको अपने दुश्मन को सताना हुआ उसने अपने दुश्मन को दुख बन तो क्या किया तो अपने शरीर का एक अंग इसमें काट दिया और जहाँ तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखाई तो हमारे देखने में साथ हुआ बिल्कुल सच्ची घटना है लेकिन गाँव को तो लोगों को मालूम हो गया कि नहीं रुकने नहीं चाहता ये तो बड़ा बड़े मानो ये बड़ा किसी को इस तरह का हथियार काय को चलाया जाता है इकट्ठे हुए पंचायत हुई है ना मैं भी कहा है ना हाँ, ये तय हुआ कि नहीं एक आदमी ने नहीं चाहता है पुलिस के सामने सब लोगों ने कहा कि फिर अपने हाथ को काट फेंकने के बाद तो देखो दुख कहाँ है जहाँ स्वीकृति है कि मैं दुखी हूँ आप बिल्कुल अस्वीकार कर दो चाहे दुनिया में कोई हो जाए मैं दुखी नहीं उलट जाने दो जिन दुनिया को हो जाने दो शक्ति हो जाने दो प्रलय हो जाने दो उलट फेर मैं दुखी नहीं हूँ ये तो दुख तुमको स्वीकार है ये तो एक मन की संदित है ये मन का एक ख्याल है ये दूसरे दिमाग वालों को ये काम चाली हो जाती है कि मैं दुखी तो दुख चिकित्सी बन जाता लेकिन चिकित्सी से उठने पर जब ये स्मृति होती है कि कितना मतलब कम न कम मैं बड़े सुख से सो रहा और मुझे सुख पता नहीं चला तो चिकित्सी से उठने पर सुख से सोया ये जो स्मृति होती है ये स्मृति से सिद्ध होता है कि सुसुक्ति में भी सुख है असल में सुख जो है वो तो साक्षी का स्वरूप है आत्मा का स्वरूप है जो आनंद है तो सुसुक्ति में तो स्थायी स्वयं प्रकाश इंद्रिया नहीं थी मनोवृत्तियां नहीं थी वो स्वयं प्रकाश सुख स्वरूप आत्मदेव सुसुक्ति में भी था अरे जहाँ हम हैं वही सुख होगा ना तो जहाँ हम नहीं होंगे वहाँ सुख होगा तुम जो जमा बैठे और अपने किसाने में रख के आए हो तिजोरी में बंद करके आए तुम्हारा उस हलवाई की दुकान पर चला जा रहा है कड़ाई में और तुम्हारा कुछ बजाज की दुकान पर कपड़े के रूप में चला जा रहा है तो कुछ तो दिल में होता है ना जहाँ तुम हो वहाँ ठीक होगा है ना जहाँ तुम नहीं हो या नहीं थे तो वहाँ से कहाँ से आएगा या नहीं होगा वहाँ से कहाँ से होगा तुम्हारी उपस्थिति ही सर्वोत्तम है तो जोड़ी भाई के साथ सिख जो है वो साक्षी भाग जो है ऐसा भाग और दो लोगों सिख साक्षी भाग से तो भी नहीं होता तो बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है जैसा सुख स्थिति में होता है बिना प्रयास से समाधि में प्रयास करके ऐसा सुख बनाया जाता है वैसे शरीर की अवस्था बनाई गई जैसे कुछ चीजें इंद्रिया काम नहीं करती है अगर मन काम नहीं करता है अभ्यास करके किसी तरह की एक अवस्था उत्पन्न करती गई अपने शरीर और अंतकरण में और उस साध्य सुसुक्ति में इस साध्य सुसुक्ति का नाम भी है ना उत्पाद दे सकते अपने परिश्रम को भी इसलिए बड़ा सुख हुआ और किसी रोज अपने आप ही आ जाती है वो तो असल में घर आए नाग में गए और वो की गई जाए वो चिकित्सक के रूप में समाधि आती है और इसको नहीं जानते हैं क्योंकि ये क्रम साध्य नहीं है और समाधि जो है ये क्रम साध्य है बुद्धि उसको सिख जानता है तो असल में बुद्धि जिस समय संसार के बाहरी विषयों के ग्रहण नहीं करती उस समय होती है इस साक्षी अपने आश्रय भी साक्षी से अभी नकल करके रहती है यद्यपि अज्ञान रहता है न किंचित अवैधी सब अज्ञान रहता है इस दशा को भगवान ने गीता में क्या बताया है क्षेत्र रूप से कहेंगे है ना ये कामस नहीं राजस नहीं सात्विक नहीं ये कहता है आप जरा क्षेत्र वाला प्रयोग करना महाभूतान्निरुतारे इन्द्रियभ्यस्तमेव इन्द्रियाणि प्राकृत सुख जो है ना प्राकृत सुख क्या है जब विचारों का तो उदय हो इंद्रिया क्रियाशील हो नहीं विचारों का उदय हो नहीं और विचारों का उदय न होने से बुद्धि जो शांत होकर के अपने आश्रय आत्मा से अभिन्न बैठी है परंतु जानती नहीं है कि मैं परमात्मा का अभिन्न जो परमात्मा का आलिंगन तो करती है परमात्मा उस पर आलिंगन करता है परंतु उसको पता नहीं है अज्ञानाक्रांत है इसलिए उस दशा में जो सुख है जो अज्ञान होने के कारण क्षेत्रात्मक हो जाता है क्षेत्र रूप नहीं रहता है जीवनातीविकाल्यते तद् ऐसा कुछ प्राप्त करने के लिए यूज करना चाहिए ऐसा कुछ प्राप्त करना हो तो यूज करना चाहिए अभी जो जैसे आया अनेक दिन से कहीं जो लोग जल्दी करते हैं ना वो कहे है ना सूर्य करे निहाय जी और कहे तीन का दान ये कुमार जिस लोहे पर जमा करता है ना उसको निहाय देते हैं आयरन देते हैं तो तीन को तो किया आयरन की और तीन का किया दान है और उसके सर के देखते छोटी दूर दिमाग है अरे अनाधिकाल से अब तक के तो सांसारिक संस्कार कितने होते हैं और जो तीन दिन माला थोड़ी ये भगीता सीताराम है रास्ते में चले वो लखनऊ महाराज बाकी सिंह का तो गिनती चल रही माना और तीन दिन के बाद आके पूछे कि हमने इतना भजन किया और अभी तक भगवान हमसे मिलने नहीं आए हे गया भगवान करो काम ऐसे हैं अभी नहीं एक जन्म दो जन्म दस जन्म जन्म जन्म लग रहा हमारे बड़ा संघ में रहो तुम्हारी बच गए तो हमको तो जब तक जीना है वही तो करना है फिर जीना है तो वही करना है फिर जीना है तो वही करना है जल्दी क्या है जब दुकान में जाना है एक बार यहाँ प्रसन्न होता था वो सिंघोनिया बाड़ी है ना ऐसे में कह रहा था तो यहाँ क्या रीति है कि बच्चा के सामने पहुंची तो है खड़ी ऐसे दीवार पर और श्रोताओं के पीछे पड़ती है तो जब पांच मिनट दस बजने में बाकी रह जाता था तब एक आलोक लोग भी लगा लगा के सिर पर जल्दी से और पीछे पेड़ घूम घूम के देखना शुरू करते थे कि अभी पेड़ घड़ी पर बज गई थी तो बात होती कि नौ बजे काफी के घर पे आते थे दस बजे तक व्याख्यान सुनना और फिर बाजार में जल्दी पहुंचना अब सरंग पेड़ के दुकान में जाना तो बहुत जरूरी है दुकान में जाना तो बहुत जरूरी है कि जो लोग ईश्वर की प्राप्ति में बड़ी त्वरा बड़ी जल्दी करते हैं ना उनको कहीं न कहीं दुकान में जाना रहता है ये एक काम नहीं है दुकान है ना एक काम सत्संग में उनका और दूसरा काम बाजार में उनका दुकान पाए करने के लिए बड़े बेटा तो इस ऐसे सत्संग का मजा जो है ये ऐसे नहीं आता जो कि क्या है माने विशाल के मत अंतम जिसका अंत कभी न हो उससे आप करके खेल हो माने अविनाशी और बुद्धि ग्राह्यम जिसके लिए ठोस पदार्थ की जरूरत न हो संबल मात्र को मिल जाए मन वही मौजूद कहीं जाने की जरूरत नहीं दो इसे अतिरिक्त असीम ब्रियम जिसके लिए इंद्री और विषय के संयोग की जरूरत नहीं अर्थात विषय नहीं मैंने विषय के परिच्छेद से रहित मेरे विषय और देश के परिच्छेद के रहित माने बिंद नहीं और आत्यंतिका माने जिससे मिलने में जोर नहीं ऐसा कुछ तो अभी अभी यही यही और वो ये वह वह नहीं वह नहीं वह नहीं वह नहीं नवा नवा नवा नवा वो नहीं ऐसा तो अभी पवित्र का वर्णन तो करेंगे कल लेकिन इससे भी कई जो सच्चा चित्त है वो समाधि सुख से भी करे है सुसुक्ति सुख से करे है समाधि सुख से करे है अभ्यास सुख से करे है जो संपर्क सुख है ध्यान सम्भूतः दुःखं भरोभावो भयं चाभयं यतो अहिंसा समता ततोदानं सुखम दुखम भयो भाव सुख और दुख की बात सुख और दुख के संबंध में साधारण लोगों की ऐसी धारणा होती है ये बाहर से आता है hay người sẽ biết और जैसे रात का भूल गए हैं एक आदमी दूध को आता देखते हैं कल्पना ये हुई कहीं लुटेरा ना हो उसके आगे से दुख हो रहा है पास आके पूछा तुम जंगल में कैसे हो अकेले कैसे हो क्यों आए रास्ता भूल गए हो अच्छा चलो हम तुमको बता देते हैं थोड़ी देर में मालूम हुआ कि वो तो हमारी मदद करने के लिए आया है तो सुख हो गया तो वो आदमी तो आदमी है मनुष्य को तो मनुष्य है उसके प्रति जब हमारे मन में अनुकूलता की भावना हुई तब सुख हुआ और जब प्रतिकूलता की भावना हुई तब दुख हुआ तो सुख दुख आदमी से नहीं आया जो हमारे हृदय में अनुकूल वेदना या प्रतिकूल वेदना अनुकूल भावना या प्रतिकूल भावना हुई उससे हुआ अब जिन लोगों का ऐसा ख्याल हो जाता है कि सारी दुनिया हमारे दुश्मन है सब हमको धोखा देने वाले हैं यहाँ तक कि ईश्वर भी हमको दुख ही देता है गुरु भी हमको ठग ही देगा